हैं तद तो अनुरूप बोलेंगे ओ धर्म प्रेमी सज्जनों कुछ दिन पूर्व आपके सामने प्रस्ताव रखा था कि आप में से जो किसी विषय को जानना चाहते हो सुनना चाहते हो वो बताएं तो उसके अनुरूप फिर इस सायकाल की परिचर्चा को चलाएंगे सत्संग को करेंगे तो आप में से कुछ व्यक्तियों की रुचि उनके प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं कुछ ने कहा है कि हमें ध्यान करवाया जाए बीच बीच में कभी कभी ध्यान करवाया जाए उस सुबह भी हो सकता है उपासना के समय उपनिषद पढ़ने के लिए कुछ की रुचि है कुछ का ये कहना है कि शंका समाधान ही चलाया जाए और एक का कहना है कि शंका समाधान खुला रखा जाए कोई विषय विशेष ना बांधा जाए कुछ भी जो पूछे वो और कुछ ने शंका समाधान के विषय भी लिखे हैं एक विषय है कि कर्मफल और पाप और पुण्य का विषय होना चाहिए एक विषय आया है कि वैराग्य कैसे उत्पन्न हो उसके क्या उपाय होने चाहिए और इसके अलावा कुछ सीधे सीधे प्रश्न भी आए हैं तो किसी विशेष विषय को अभी प्रारंभ न करके इन प्रश्नों में से जो मैंने बताया उसके अतिरिक्त दो और पर्चियां हैं उनको उसमें से जितना भी आज होता है कुछ मैं आपके सामने रखता हूं पहला प्रश्न ध्यान के बारे में है प्रश्न है कि कभी कभी ध्यान करते हुए अथवा व्यवहार में भी किसी विशेष साधन साधन से उनका तात्पर्य है सत्संग गुरु या स्वाध्याय के द्वारा जो उच्च आंतरिक स्थिति बनती है जिस स्तर की अंतर्मुखता बनती है वह अनंतर प्रयास करने पर भी सदा उसी स्तर की नहीं बन पाती क्यों उस स्थिति की पुनः प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए इनके प्रश्न का अभिप्राय यह है कि जो ध्यान करते हैं वो ध्यान में अपनी स्थिति को ऊंचा नीचा होते हुए अनुभव करते हैं किसी दिन बिल्कुल मन नहीं लग रहा है किस दिन थोड़ा लग रहा है किसी दिन बहुत अच्छी एकाग्रता बनी अंतर्मुख हो गई आंख खोलने की इच्छा नहीं किसी दूसरा विषय को विचार करने की इच्छा नहीं बहुत संतोष होता है बहुत सुख प्राप्त होता है शांति मिलती है कभी कभी बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है तो ये अपने आप ध्यान के समय भी बनती है कमल जी का है हाँ अच्छा बैठे ठीक है तो कभी कभी ये स्थिति अपने आप बनती है और कभी कभी किसी सत्संग में कोई भजन सुना उसकी पंक्ति इतनी अच्छी लगी कि बहुत अच्छा ध्यान हो गया प्रवचन का कोई शब्द वाक्य कोई मंत्र ऐसा मिला तो बहुत प्रभाव डाला और बहुत अच्छा ध्यान लगा उस समय भी स्थिति बनी और ध्यान में भी बनी पुस्तक पढ़ते हुए कोई ऐसा प्रसंग आ गया कोई घटना आ गई कोई वाक्य ऐसा प्रेरित लग गया तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है लेकिन ये स्थिति सदा नहीं बनी रहती प्रयास करने पर भी नहीं बनी रहती तो ऐसा क्यों होता है और स्थिति बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए तो इस स्थिति से सभी ध्यानकर्ता उपासना करने वाले सभी गुजरते हैं सबके साथ में ये ऊंचा नीचापन होता रहता है जैसा कि आपने भी प्रश्नकर्ता ने भी ये लिखा कि विशेष कुछ कारण बनते हैं सत्संग गुरु स्वाध्याय तो स्थिति का बनना अनेक बार तो इन कारणों से होता है कुछ ना कुछ आलंबन कुछ ना कुछ कारण बनते हैं कोई घटना जीवन के साथ घट जाती है तब भी ऐसा होता है कोई दृश्य ऐसा देख लेते हैं तो भी ऐसा होता है किसी साधु संत को देख लेते हैं तो भी ऐसा होता है कोई बहुत अच्छी स्मृति ध्यान आदि की ऐसी आ जाती है तो भी ऐसा होता है अर्थात कोई ना कोई आलंबन बनने पर ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं अब वो स्थिति बन गई आलंबन ने जो आश्रय दिया हमें प्रेरणा दी वो थोड़ी देर रहेगी धीरे धीरे वो कम होनी ही है जिस समय हमने वो वाक्य सुना पढ़ा वो दृश्य देखा उस व्यक्ति को देखा घटना का स्मरण आया उस समय उससे हम अधिक प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता है उसके प्रभाव को बनाए रखने के लिए तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा प्रयत्न करना आवश्यक होता है नहीं तो धीरे धीरे वो कम होता जाता है यदि हम उस प्रयत्न को उस प्रभाव को बनाए रखते हैं विशेष प्रयत्न से तब वो देर तक बना रह सकता है लेकिन सदा बना रहे ये फिर भी नहीं होता है तो हमें अपनी स्थिति बनाने के लिए इस तरह के विविध आलंबन ढूंढने होते हैं जिन आलंबनों से पहले कभी स्थिति बनी थी उनकी स्मृति से या फिर से आलंबन पाके फिर हम प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी सदा ऐसा नहीं होगा कि उसी वाक्य को पढ़ के उसी व्यक्ति को देख करके उसी भजन को सुन के बार बार वो स्थिति बन जाए ऐसा भी सदा नहीं हो इसमें पहला बिंदु तो ये समझ लेना चाहिए ये जो ऊंचा नीचा होना है स्थिति का ये बहुत आगे तक चलता रहता है जिनकी समाधि की स्थिति होती है संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात उनमें भी ये होता रहता है जो प्रारंभिक स्तर के हैं उनके उनका प्रारंभिक स्तर का ऊंचा नीचा होता रहता है मध्यम स्तर के हैं तो वहां भी उनका स्तर ऊंचा नीचा होता रहता है लेकिन उनके हिसाब से वहां वो कितना भी नीचे जाता है तो इसके ऊंचे से भी ऊंचा रहता है वो उसके स्तर से नीचे आया है अभी लेकिन इस स्तर से अभी भी वो बहुत ऊंचा है लेकिन यहां ऊंचा नीचापन उसका भी होता रहता है एक और ऊंचा है समाधि में पहुंचा हुआ है वहां भी उसका ऊंचा नीचा होता रहेगा लेकिन उसका जो नीचा है वो इसका इतना ऊंचा है कि वर्षों बाद भी वहां नहीं पहुंच सकता लेकिन ऊंचा नीचा तो होता रहता है इसको योग दर्शन में अनवस्थित तत्व के नाम से कहा गया योग के नौ अंतराय गिनाए गए बाधक व्याधि यानी रोग इत्यादि व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनावस्थितत्व अभी दो पे केंद्रित रहते हैं मुख्य तो अनवस्थित तत्व पे जाना है अलब्ध भूमि तत्व है उस भूमि को उस स्तर को प्राप्त ही न करना प्राप्त ही न कर पाना नीचे ही है वो इच्छा कर रहा है मेरे को वो स्थिति प्राप्त हो प्राप्त हो नहीं रही है वो नीचे है भी एकाग्रता शांति आदि नहीं आ रही है नीचे है भूमि का न प्राप्त होना अलप्त भूमि तत्व लेकिन भूमि प्राप्त तो कर ली अब ये नया दोष है ये नया बाधक है क्या अनवस्थित जिस भूमि को प्राप्त किया है जिस स्तर को प्राप्त किया वहां ठहर नहीं पा रहा है वो नीचे आ जाता है उस देर तक अधिक देर तक वहां नहीं रह सकता अनवस्थित तो वहां स्थित न रह पाना उसी स्तर पर बने न रहना नीचे आ आता है समाधि में भी ये होता है तो पहला बिंदु ये समझना है कि ये अनवस्थित तत्व ये जो ऊंचा नीचा होना है ये सब जगह होता रहेगा बहुत दूर तक होता रहेगा अंत तक होता रहेगा जब तक कि अंतिम स्थिति ईश्वर साक्षात्कार ना हो जाए जीवन मुक्त ना हो जाए होता रहेगा ये और ये अधिक चिंता का भी विषय नहीं होना चाहिए इसको चिंता का विषय बना करके दुखी क्षुभित नहीं होना है हमें स्थिति हमने पाई ये पहली तो संतोष की बात होनी चाहिए कि मैं कुछ देर एकाग्र शांत तो हो सका और वो होने के ऊपर अपने पे विश्वास आता है कि ये चीज हो सकती है एक वो व्यक्ति है या हमारी ही कुछ महीने पहले कुछ साल पहले ये स्थिति थी कि हम इतनी शांत एकाग्र अंतर्मुखी स्थिति में पहुंच ही नहीं पाते थे सुनते थे कि साधक लोग उस स्थिति को प्राप्त करते हैं बस हमें कोई अनुभव नहीं था हमें लगता था कि ये विचार ही विचार चलते रहते हैं इतनी अंतर्मुखता तो आ ही नहीं सकती कैसे होगी मन तो चंचल है यही होता रहेगा तो हमें वो स्थिति प्राप्त हुई इसका एक संतोष मन में रहना चाहिए कि नहीं ये स्थिति होती है और हमें अनुभव में आ गई मैं फिर स्थिति को प्राप्त कर सकता हूं जैसे अभी प्राप्त किया आगे भी होगा धीरे धीरे उस स्थिति का काल हमारा बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है तो अनवस्थितत्व जब हो ऊंचा नीचापन हो इसको दुख के रूप में शोक के रूप में नहीं लेना चाहिए इसका ये पक्ष देखो कि मैं यहां तक पहुंचाऊं लेकिन ये विचार अवश्य करना चाहिए जो प्रश्नकर्ता का है कि मैं नीचे आ जाता हूं तो क्यों आ जाता हूं या वापस मैं वहीं जाना चाहता हूं तो फिर क्यों नहीं जा पाता हूं कभी कभी तो बिना प्रयास के भी सहजता से एक स्थिति बन जाती है और कभी प्रयास करने पे भी नहीं बनती जब हमें ये प्रतीत होता है कि ये अपने आप हो रही है उनमें बहुत सी स्थितियां तो सकारण ही होती है ये कुछ ना कुछ कारण रहेगा सीधे हमें पकड़ में आए ना आए कुछ ना कुछ कारण रहता है कि आज मेरी स्थिति अच्छी बनी ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ कारण मिल जाएगा लेकिन कई बार कोई कारण नहीं मिलेगा ये कारण कुछ दिखाई नहीं देगा उसमें फिर आंतरिक कारण होते हैं ईश्वरीय व्यवस्था कुछ कारण होती है हमारे कर्माशय के कारण से हमारी सात्विक स्थिति बनती है कुछ देर के लिए बनी कर्माशय उद्भुत जब होता है तो उसके अनुरूप अच्छे संस्कार भी बनते हैं मन की बुद्धि की सात्विक स्थिति बनती है वो हमारे को कोई कारण बाहर का नजर नहीं आएगा पीछे के कारण होते हैं ये शास्त्रों से हम समझ सकते हैं लेकिन कारण तो अवश्य है यदि स्थिति बनी है तो कारण अवश्य है बिना कारण के कभी नहीं होगा तो पहली पहला प्रयास हमारा क्या होना चाहिए कि जब कभी स्थिति बनी तो कारण भी ढूंढना चाहिए कि आज क्यों बनी और फिर उन कारणों को उपायों को हमें प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास करने पर भी यदि नहीं बन रही है स्थिति तो भी दुखी नहीं होना चाहिए हमारी स्थिति जो भी बनती है वो हमारे पुरुषार्थ और हमारे कर्माशय संस्कार दोनों का मिला जुला रूप होती है आध्यात्मिक व्यक्ति की जो स्थिति बनती है जितनी भी जिसकी बनती है वो वर्तमान के पुरुषार्थ चारों ओर की परिस्थिति आलंबन इस पर भी निर्भर करती है और अन्य आंतरिक कारणों पर कर्माशय आदि संस्कारों पर भी निर्भर करती है दोनों के मिलने पर जो स्थिति बनेगी कम या ज्यादा वो हमारी रहेगी इसको दूसरा उदाहरण जो हम कर्म के ऊपर लेते हैं कि वर्तमान का पुरुषार्थ और पहले का भाग्य दोनों मिलकर के हमारी वर्तमान की स्थिति रहती है केवल वर्तमान का पुरुषार्थ भी नहीं है और केवल भाग्य भी नहीं है दोनों वहां पर मिले रहते हैं यदि पुरुषार्थ अधिक है अच्छा है और भाग्य खराब भी है तो भी वो कुछ ठीक हो जाएगा पुरुषार्थ भी है और लेकिन भाग्य बहुत बुरा है तो वो अच्छा करते हुए भी उतना अच्छा नहीं होगा अभी का खराब है लेकिन भाग्य बहुत अच्छा है तो वो बुरा करते हुए भी इतना बुरा नहीं होगा जित फिर भी ठीक ठाक स्थिति उसकी रह जाएगी अर्थात जैसे हमें फल का मिलना वर्तमान के पुरुषार्थ और पहले के भाग्य पर निर्भर करता है दोनों के बलाबल पर निर्भर करता है उसी तरह आध्यात्मिक स्थिति बुद्धि की सात्विक स्थिति भी इन दोनों पर निर्भर करती है लेकिन जैसे अन्य चीजों के लिए हमारे हाथ में तो हमारा पुरुषार्थ होता है भाग्य को हम नहीं कुछ कर सकते वो तो जो आना है जब आना है आएगा इसी प्रकार से आध्यात्मिक स्थिति बनाने में भी हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ ही कार्यरत होता है हमारे हाथ में वही है पीछे का जो है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते वर्तमान की स्थिति में कारणों से जब हम अपने को अच्छा बनाते हैं या हम प्रयत्न कम करते हैं तो स्थिति नीचे जाती है यह समझ में भी आती है लेकिन इतना सब होते हुए सब कुछ एक जैसा होते हुए भी जब ऊंचा नीचा होता हुआ दिखेगा तो हमें समझना चाहिए कि इसमें पीछे के कारण है कर्माशय कारण है वह कुछ भी कारण नहीं दिखाई देगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा ऐसी स्थितियों में जब हम पुरुषार्थ भी कर रहे हों और वो स्थिति नहीं आ रही है पहले वाली तो भी हमारा ये पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जा रहा है एक अगली बात बता रहा हूं ये सदा ध्यान में रखना है किसी दिन सहजता से बहुत अच्छी आंतरिक स्थिति बनी और किसी दिन प्रयत्न करके भी नहीं बन रही है तो सहज रूप से हम क्या निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि मेरा पुरुषार्थ व्यर्थ हो रहा है क्योंकि पुरुषार्थ का फल दिखाई नहीं दे रहा मैं उस स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहा हूं लेकिन वो पुरुषार्थ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है आप इसको यूं समझिए आज ऊंची स्थिति नहीं है आज नीची स्थिति है और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो भी वो ऊंची नहीं है लेकिन यहां पर है किसी दिन यहां ऊंची थी आज पुरुषार्थ करके यहां स्थिति है हमारी इतनी नीचे है हम क्या देख रहे हैं उससे हम यहां पर है नीचे पुरुषार्थ करके भी यहां नहीं पहुंच पा रहे और इसलिए दुखी है इसको यूं समझिए कि यदि पुरुषार्थ नहीं करते उस दिन तो ये स्थिति कहीं नीचे और होती है कर्माशय के कारण से विभिन्न संस्कार उभरते हैं विपरीत संस्कार उभरेंगे और उन संस्कारों को हमें काटना है ज्ञानपूर्वक दग्ध करना है जो पुरुषार्थ किया उसके कारण से आज ये स्थिति है भले ही वो पहले वाली नहीं है तो पुरुषार्थ किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है साधना के लिए जो भी पुरुषार्थ होगा वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है और न व्यर्थ समझना चाहिए न वो निराशा की बात है इसको दूसरे उदाहरण से समझें किसी दिन हम चल के जा रहे हैं और कोई भार हमारे पे है नहीं तो बहुत आसानी से पहाड़ी पे चढ़ गए सीढ़ियों पे चढ़ गए कई किलोमीटर चल गए थकान नहीं हुई सांस नहीं फूला अच्छी तरह घूम लिए और किसी दिन हमारे पत्थर लदे हुए हो बोरा लाद रखा हो कट्टा रखा हो हमारी पीठ पे सिर पे घड़े रखे हुए हों और अब हम चल रहे हैं बोले आज तो चला ही नहीं जा रहा है मेरे से आज तो सांस फूल रहा है आज तो मैं थोड़ा सा चला और थक गया आज तो मैं पांच किलोमीटर चल ही नहीं पाया एक ही किलोमीटर चला ये भार भी तो है जिस दिन हमारे कर्माशय वशात संस्कार उभरे हुए रहते हैं विपरीत संस्कार साधना के विपरीत संस्कार वो पीछे खींच रहे हैं हमारे पास साधना की तरफ गति नहीं होने देंगे वो विपरीत खींच रहे हैं हम उधर जा रहे हैं और पीछे से कोई हमें खींच रहा है और ऐसे में हम फिर भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं जोर लगा रहे हैं तो बढ़ेंगे तो कम लेकिन हमारा वो प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता है इसको एक और उदाहरण से आपके सामने रखूं दौड़ने वाले होते हैं धावक धाविकाएं जब ये दौड़ते हैं तो इनको कोई पकड़ता नहीं है पीछे से जितना चाहे खुला दौड़ते हैं इस तरह भी अभ्यास करते हैं लेकिन इनको ऐसा भी अभ्यास कराया जाता है कि उनके जो शिक्षक होते हैं वो कपड़ा पट्टा लगा करके भी पकड़ लेते हैं दौड़ो अब वो ताकत उतनी लगा रहा है पुरुषार्थ उतना ही कर रहा है खूब जोर लगा रहा है लेकिन कितना बढ़ेगा वो आगे कम तो इस समय जो उसने पुरुषार्थ किया ये सार्थक है या व्यर्थ है यदि हमारा आकलन यदि उस धावक का आकलन ये हो कि मैं इतना दौड़ा और अपने आप दौड़ता हूं तो मैं दो मिनट में ये दूरी पार करता हूं 400 मीटर यदि दो मिनट में पार करता हूं तीन मिनट में पार कर दू और ये मेरे को पकड़ लेते हैं तो पांच मिनट लगते कम दौड़ता हूं दो मिनट में पहले इतना दौड़ लेता था और अभी मैं कम दौड़ पा रहा हूं ऐसा कोई आकलन करे करेगा नहीं ऐसा था वक्त क्योंकि उसको पता है आज ये नया कारण है पीछे मेरे शिक्षक ने मेरे को खींच रखा है अभी पीछे का उल्टा बल है इसलिए मैं कम दौड़ पा रहा हूं लेकिन ना शिक्षक प्रशिक्षक ऐसा सोचता है ना दौड़ने वाला सोचता है कि ये प्रयत्न व्यर्थ गया है बिल्कुल इसी तरह से संस्कार तो हमें पकड़ेंगे जो संस्कार हमने पहले डाले हैं अपने ऊपर पिछले जन्म के या इस जन्म के बचपन के युवावस्था के जब के भी हैं बुरे संस्कार भोग के संस्कार अवैराग्य के संस्कार अविवेक के संस्कार राग द्वेष के संस्कार वो रोकेंगे अवश्य रोकेंगे और हमें प्रयत्न करते रहना है फिर भी हमारा संतोष इस बात से रह सकता है रहना चाहिए कि हमने प्रयत्न किया स्थिति कहां पहुंचे कोई चिंता नहीं धीरे धीरे वो संस्कार उन संस्कारों के बल के समय भी जब वो खींच रहे हैं हमारे को उल्टी तरफ तब भी हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे वो क्षीण हो जाएंगे उनका बल समाप्त हो जाएगा क्योंकि हम उसके विपरीत प्रयास कर रहे हैं अविवेक के विपरीत हम विवेक का प्रयास कर रहे हैं राग द्वेष के विपरीत हम सम स्थिति का प्रयास कर रहे हैं तो वो क्षीण होंगे ये हमारा पुरुषार्थ चल रहा है ये हर साधक के साथ में होगा इसलिए इससे कभी दुखी नहीं होना इसकी वास्तविकता को समझो अनुभव से भी आपको और पता लगेगा कि ऐसा होएगा और जो साधक बिना किसी दुख के बिना किसी निराशा के इन स्थितियों में भी चलता रहता है कुछ दिनों कुछ महीनों कुछ सालों के बाद में उसे ऐसा लगता है जैसे कि मैं घाटी पार करके आ गया घाटी चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है उबड़ खाबड़ रास्ता है पथरीला है फिसलने का है सब कुछ है बहुत कठिन है लग रहा है लेकिन चलता रहेगा चलता रहेगा तो वो घाटी पार हो जाएगी तब लगेगा वो अब सारी बाधाएं दूर हो गई वो बाधा ही नहीं रही घाटियां तो पार करनी पड़ेंगी ये संघर्ष ये बल तो लगाना होगा उपाय वही है जो हम सब जानते हैं वही सत्संग वही स्वाध्याय चिंतन मनन ईश्वर का स्मरण जीवन का स्मरण दूसरों को देखना संसार कैसा है इन सबको देखना उन अनुभवों को बार बार उभारना यही उपाय है ऐसे ही करना होगा अपने को दोषों से बचा के रखना आकर्षणों से बचा के रखना यही उपाय ठीक है पूछिए बैठे बैठे बैठे पूछिए अच्छी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं समय के लिए कई बार लगता है कि कार्य कार्य करने में बाधा लगता है कि कार्य करते हैं तो स्थिति हम्म। इनका प्रश्न है कि कई बार ये प्रयास करते हैं तो व्यवहारिक कार्यों में बाधा आती है वो अंदर तो प्रयास कर रहा है और इधर कुछ और कार्य कर रहा है तो नहीं हो पाएगा स्वाभाविक है अब कक्षा में बैठे हैं आप न्याय दर्शन की और वहां अंदर प्रयास चल रहा है तो न्याय दर्शन में बाधा आएगी गाड़ी चला रहे हैं और उधर वो चल रहा है तो बाधा आएगी उसके लिए भिन्न काल को निर्धारित करना चाहिए यदि हम बहुत विशेष प्रयास अंदर कर रहे हैं बल लगा रहे हैं तो उस समय अच्छा है कि हम इन कार्यों को ना करें नहीं तो दोनों जगह गड़बड़ होगी हमारी ऐसी सामर्थ्य नहीं जो इस स्थिति में है प्रारंभिक स्थिति में वो दोनों कार्य कर सकें सामर्थ्य नहीं है लेकिन यदि आपने कुछ घंटे प्रयास किया और अब कुछ दूसरा कार्य करना है तो कोई बात नहीं उस कार्य को करने में लग गए इधर से थोड़ा विश्राम भी मिलेगा चिंता नहीं करनी उसमें कि ये छूट रहा है अभी काम बदलने से विश्राम मिलेगा इधर से और उधर थोड़ा काम करके घंटा दो घंटा चार घंटे का करके और दिमाग एकदम दूसरी तरफ रहेगा फिर से आकर के यहां पर अच्छे ढंग से करेंगे ऊंचे स्तर पर कर पाएंगे अच्छा प्रयास कर पाएंगे जब मान लीजिए कुएं से पानी खींचना हो करते करते करते थक रहे हैं खूब खींच ही नहीं रहा है बहुत धीरे धीरे पहले तो खींच रहे थे आसानी से धीरे धीरे खींचना कम हो जाता है ताकत तो पूरी लगा रहे होते हैं लेकिन गति कम हो जाती है थक जाते हैं कम होता है उसमें दूसरा कार्य भी नहीं कर सकते तो क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उस काम को कोई बात नहीं थकान दूर हो जाएगी फिर फटाफट निकालेंगे पानी फिर अच्छे स्तर पे करेंगे कई साधक साधना में बैठते हैं लंबी लंबी साधना में बैठते हैं थक जाते हैं नहीं कर पा रहे हल्का स्तर हो गया बिल्कुल बहुत निम्न स्तर आ गया है तो भी लगे नहीं लगे रहो लगे रहो लगे रहो एक तो ये स्थिति है एक है कि अच्छी स्तर पे किया फिर लगा कि अब तो बहुत देर लग रही है और बहुत हल्का स्तर आ गया है तो थोड़ी देर कुछ सामान्य कार्य कर लिए लौकिक व्यवहार के जो आवश्यक है वो कार्य कर लिए और फिर अच्छे स्तर पर करके बैठ गए जब यात्रा में चलते चलते गाड़ी गर्म हो जाती है कम चलती है तो एक तो तरीका है कि फिर भी चलाते रहो धीरे धीरे धीरे धुआं भी निकल रहा है गर्म हो रही है लेकिन थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दी ठंडी हो गई फिर अच्छी तरह से चला ली तो कभी ऐसा लगता हो और कुछ गंभीर कार्य लौकिक कर रहे हो जहां दुर्घटना होने की संभावना है वहां इसको रोक देना चाहिए आपको वो कार्य करना अनिवार्य है तो करना पड़ेगा आपको रेल पकड़नी है उस पर चढ़ना है तो आपको वहां ध्यान रखना ही पड़ेगा नहीं तो फिसल जाएंगे कुछ और हो जाएगा ठीक है और किन्हीं को इस विषय में पूछना हो तो कुछ कुछ तो इसके अलावा को भी इनका प्रश्न है कि जो आंतरिक आलम्बन बताए वो एक तो संस्कार हो गए और क्या स्मृतियां भी हैं वो संस्कार स्मृतियों के रूप में ही आएंगे स्मृति एक वृत्ति है संस्कार अपने आप में उभर करके दिखाई नहीं देंगे हमारे को संस्कार जब उभरते हैं तो वो वृत्ति के रूप में ही उभरते हैं वो स्मृति के रूप में ही उभरेंगे एक ही स्थिति है तो जब संस्कार कहा जा रहा है तो इसका मतलब है संस्कार जन्य स्मृतियां वो ही लिया जाएगा वहां दूसरा आंतरिक कारण क्या है कर्माशय वशात बुद्धि की सात्विक स्थिति कम हो गई तो अब नहीं होगा कार्य नहीं होगा साधन ही ऐसा बुद्धि ही इस समय ऐसी है कि वो नहीं कर पाएगा इसलिए साधक को जैसा स्वामी जी बोल रहे थे कर्माशय बनाने की तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए तो तब फिर सहयोग मिलता है अच्छा आंतरिक सहयोग बाहर भी पुरुषार्थ कर रहे हैं और आंतरिक सहयोग भी हमारा कर्माशय का मिलता है और साधक जब निष्कामता की तरफ जाता है तो अपने कर्माशय का और कोई फल नहीं चाहता मेरे को और कुछ नहीं चाहिए मुझे मुक्ति प्राप्ति के लिए जो साधन आवश्यक है बस वही चाहिए उतना भोजन उतने वस्त्र उतना भवन उस तरह का ज्ञान विज्ञान उस तरह के गुरुजन उस तरह की अनुकूलता परिस्थिति उसका वही प्रार्थना चलती रहती है ये निष्कामता हो गई उसकी बाकी चीजों को पाने में वो अपने कर्माशय को खर्च करने की इच्छा नहीं रखता अपने कर्माशय को अन्य कार्यों में खर्च व्यर्थ नहीं करता रहता वो अन्य कार्यों में खर्च करेगा उसको अन्य चीजें मिल जाएंगी ले वो लौकिक चीजें मिलेंगी उनको भोगेगा और बस कर्माशय भी समाप्त हो गया कुछ बुरे संस्कार और पड़ जाएंगे राग द्वेष के तो सांसारिक रूप से तो वो अपने को संतुष्ट समझेगा लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कर्माशय भी क्षीण हो गया संस्कार भी उल्टे पड़ गए और नई बाधाएं अलग खड़ी कर ली मुक्ति के लिए मुक्ति की दृष्टि से तो साधक कर्माशय अच्छा बना के रखता है प्रयास करता है कि मेरा कर्माशय अच्छा रहे पुण्य कर्म अधिक से अधिक रहे और उसका व्यय खर्च जहां मुझे करना है वहीं करूं इधर उधर ना कर होने दो फिर उसको सहायता मिलती रहती है अधिक अधिक सहायता मिलेगी तो आज का तो ये एक ही विषय रखता हूं अगला विषय आगे कर लेंगे सूचना है कोई दातुन लेके आए हैं मंत्र पाठ